क्रियात्मक योग को समझने का प्रयास करें दर्शन के दो पाद और तीसरे पाद के तीन सूत्र इतना अनुवाद सूत्रार्थ योग के आठ अंग उनके नाम उनका अर्थ और फल ये सब लिखित रूप में छोटी पुस्तक के आकार में आपके पास पहुंच गया होगा योग के आठ अंगों का नाम गुण का अर्थ और फल और व्यवहार में उसका प्रयोग निरीक्षण परीक्षण इन चार बातों को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें नाम का पता और नामी का पता जिज्ञासु को होना चाहिए जब व्यक्ति नामों को नहीं जानता उन नामों का अर्थ क्या है ये नहीं जानता उसके करने से लाभ क्या होता है ये नहीं जानता न करने से हानि क्या होती है ये भी नहीं जानता तो ऐसी स्थिति में कोई सफलता नहीं होती क्या आपको आठ योग के अंग समरण हैं आप हाथ खड़ा करेंगे जिसको हूं तो प्राय नहीं है उनको समन कर लेना शीघ्र ही दूसरी बात क्या आठ अंग आठ कार्य जो योगी बनने के लिए करने होते हैं उनका अर्थ जैसे कि यम यम पांच हैं उनका एक एक का अर्थ क्या है आपको ऐसे अर्थ याद हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए तो ये उससे भी लगभग कुछ व्यक्तियों के ही याद है नहीं तो नहीं अब फिर पूछा जाए तो जैसे अर्थ याद नहीं है वैसे उनका फल भी याद प्राय नहीं होगा ऐसी स्थिति में विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी भी नहीं होता कोई भी विद्या जब पढ़ी जाती है तो व्यक्ति नाम और नामी को जानता है उनके अर्थों को जानता है उसके फल को जानता है नहीं करने से उल्टा करने से हानि को जानता है तब वो व्यक्ति विकास को प्राप्त करता है एक विज्ञान को पढ़ने वाला विद्यार्थी विज्ञान की परिभाषाओं को नहीं जानता नामों को ही नहीं जानता नामों को जान के उनके अर्थों को ही नहीं जानता और अर्थों को जान के उससे हमें क्या मिलेगा उसके फल को नहीं जानता उल्टा करने से क्या हानि होती है उसको वो नहीं जानता वो कभी भी विज्ञान का विद्यार्थी बन के विद्वान नहीं बन सकता इसलिए इस भारत देश में योग के नाम से और योग के क्षेत्र में जितने अज्ञानपूर्वक काम किए जाते हैं उतने बहुत कम विभागों में होते हो इसमें न तो अक्षर ज्ञान की अपेक्षा रखी जाती है अक्षर ज्ञान चाहिए भाषा ज्ञान चाहिए न इसको अंग उपांग वेद के पढ़ने की अपेक्षा वहां पर है ना वहां पर उसको विद्यार्थी रूप में रह के विद्या सीखने की आवश्यकता है न उसके लिए पुस्तकों की ऐसी आवश्यकता है न ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है उसको किसी प्रकार के विद्यालय की आवश्यकता नहीं है पर योग सीखता है व्यक्ति भारत की स्थिति तो ये है अब इसका परिणाम देखो कोई भी व्यक्ति योग नाम से कहीं कुछ सिखाने लग जाए वो सीखना आरंभ कर देता है अब उसको कोई पता नहीं कहां सर पैर है इस योग का वो सीख रहा है और योग भी बीस प्रकार के योग अपने अपने लोग कहते हैं कि एक योग सिखाते हैं भाइयों ऐसे बैठो और तुम्हारा सांस कहां पर चल रहा है इसको देखो उस सांस को देखते रहना देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो सांस कहां पर चल रहा है देखते रहो वो देखते रहते हैं देखते रहो ठीक है उस ओर से वृत्ति को चट गई तो लोग कहते हैं ये योग है ये योग सिखाया जा रहा है और हजारों लोग लाखों लोग इसी प्रकार से नेती धोती नौली धोती खाना उल्टी कर देना और फिर ये जो आसन आप शारीरिक व्यायाम है आवश्यक है इसका नाम योगा रख दिया अब यहां संतुष्ट हैं लोग कि ये व्यायाम करने से व्यक्ति को योग आ जाता है और कोई उसको पढ़ने पढ़ाने की वेद दर्शन उपनिष पढ़ने की यम नियम पालन करने की व्यवहार सुधारने की कोई अपेक्षा है नहीं कुछ भी खाए कुछ भी पिए वो योगी बन जाता अब ये ये दिमाग व्यक्ति का काम करता है क्योंकि इसमें कोई निश्चित परिभाषा तो उनके पास में है नहीं निश्चित परिभाषाएं जब नहीं है तो चाहे जो योग हो सकता है फिर तो आपका काम है कि उसके नाम को याद करना फिर उनके अर्थों को याद करना फिर फलों को याद करना और उसके पश्चात मन वाणी शरीर से दैनिक जीवन में आप उसको कितना कर पा रहे हैं कितना भंग हो रहा है आप परीक्षण करिए प्रयोग करिए वैज्ञानिकों की तरह तो पता चलेगा आगे बढ़ेंगे विकास होगा और वैसे ही यदि ये स्थिति नहीं है आपकी तो आप कोई विकास नहीं होगा आप पचास वर्ष तक कैसे बैठते रहिए कोई अंतर नहीं आएगा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा समय इस प्रकार व्यर्थ जाता रहेगा उल्टी बातें बल्कि आपके जीवन में आ जाएंगी लोग ये कहेंगे ये योग सीखने वाले का चरित्र देख लो ये कहेंगे डब्बा लगाएंगे योग के नाम से कलंक लग जाएगा योगी व्यक्ति के अंदर सच्चे योग जानने वाले के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो दुनिया में दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं होती तो पुस्तक आपके पास अष्टांग योग की है वो छोटी सी या नहीं तो जब भी जितना भी समय मिलता जाए उसको झटाझट याद करिए पाठ करिए व्यक्ति की बुद्धि रंगी जाती है जिसका वो पाठ करता है याद करता है वैसे विचार बनते हैं और उल्टे विचार हटते जाते हैं जब आप अच्छी चीज को याद करेंगे तो उल्टे विचार आपके स्वतः दबेंगे दूर हटेंगे या फिर मर जाएंगे वो यदि आप अच्छी चीज याद नहीं करेंगे तो जो अच्छी चीज सुनते हैं और पढ़ते हैं वो बुरे विचारों के नीचे समाप्त हो जाएगी और वो अच्छे विचार सुने हैं और पढ़े हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे बुरे विचार उसके ऊपर आरूढ़ हो जाएंगे हम जो प्रातः सायकाल ध्यान में बैठते हैं तो उसमें यम और नियम आसन तो ये आसन तीसरा अंग है इसके दो विभाग बनाओ व्यायाम के रूप में जो आप करते हैं ये व्यायाम है ये योग का अंग नहीं कहलाएगा ये शरीर को स्वस्थ बलवान अच्छा बनाने के लिए अनिवार्य रहता है व्यायाम का करना अनिवार्य है व्यक्ति के लिए उसके बिना शरीर बलवान सुंदर दीर्घ आयु निरोग नहीं होता बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक भोजन को देखते हुए अनुभूति के साथ में ऋतु को देखते हुए अवस्था को देखते हुए इन सब चीजों को देखते हुए वो व्यायाम करना चाहिए नहीं तो इसमें भी हानि हो जाएगी एक व्यक्ति को 200 दंड करने चाहिए वो यदि 600 कर लेता है तो निश्चित रूप में हो जाए किसी भी काम में अब जिस आसन पर बैठ करके हम ध्यान करते हैं प्राणायाम करते हैं ओम का जप करते हैं समाधि लगाते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं मन की वृत्तियों को रोकते हैं वो सुखपूर्वक जो आसन है बिना हिले जुले उस आसन का नाम योग का अंग है आपको समझ में आया नहीं आया है जी आ गया अब इसमें स्वस्तिक आसन सिद्ध आसन पद्मासन ऐसे ऐसे अनेक आसन है उनमें से कोई भी आसन जो सुखपूर्वक लग सकता है उसी के ऊपर व्यक्ति बैठे और आसन की सिद्धि के बिना वो अपनी वृत्तियों को रोक नहीं सकता ध्यान को जमा नहीं सकता मन की विद्युत की भांति तरंगे चलती हैं उसको वो रोक नहीं सकता पकड़ नहीं सकता नितांत व्यक्ति शांत होकर बैठता है और उन मानसिक तरंगों को देखता है और उनको रोकता है बुरी और अच्छी दोनों तरह की तरंगे विद्युत की भांति चलती हैं बुरियों को वो जान के रोक देता है अच्छे तरंगों को स्थापित करता है ये कार्य उसको बैठ के करना पड़ता है अब आप एक अभ्यास है अर्थात एक आसन की प्रक्रिया पद्धति क्या है इस बाएं पैर को हम चिपटा रख लेते हैं ऐसे और ऊपर वाले दाएं पैर को हम चिपटा रख लेते हैं इसके ऊपर और नीचे आसन अपना कंबल या आसन ऐसा रखना है कि नीचे भूमि चुभ है नहीं ध्यान में भूमि चुभ जी तो ध्यान नहीं जम पाएगा ये रखना है आपने आपको क्या समझ में आया बाया पैर हमने चिपटा कर लिया ऐसे टेटा करेंगे तो दर्द होगा ऐसे बैठ नहीं सकेंगे ऐसे इसको हमें ऐसे ऐसे कर लेते हैं और इस दाए पैर को ऊपर यहां चिपटा रख लेते हैं अब ये अपनी अपनी जगह पर जब आते हैं तो ये यहां तक पहुंचता है ये पैर ऐसे ये ऐसे आ जाता अब आप देखेंगे कि हमारे शरीर की स्थिति इस रूप में रहेगी ये दोनों घुटने टिके हुए हैं रीढ़ की हड्डी का नीचे का भाग भूमि में टिका हुआ है टकना अपनी जगह पर टिका हुआ है हमारी कमर सीधी है गर्दन भी सम अवस्था में सीधी रहेगी हाथों को हम ऐसे रखें तो अच्छा रहता है उससे कमर कम झुकती है नींद कम आती है कभी आलस्य के साथ युद्ध भी करना पड़ता है तो इस रूप में रखते हैं तो अधिक सुविधाजनक होता है ऐसे हम आसन को रखते हैं इसमें ठीक अवस्था होने पर हमारे शरीर का भार सबसे अधिक रीढ़ की हड्डी के नीचे भाग में जाएगा दूसरा क्रम दूसरा स्थान भार का होगा टकना और तीसरा होगा घुटना अर्थात इन घुटनों पर भार कम आएगा उससे अधिक शरीर का भार टकने पर अधिक आएगा टकने से भी अधिक शरीर का भार हमारी रीढ़ की हड्डी का तल भाग नीचे भूमि में जो टिका हुआ है उसमें उस पर सबसे अधिक आएगा तो समझ लेना चाहिए कि हमारा शरीर ठीक है यदि हम कुछ आगे को झुकते हैं तो टकने पर भार अधिक मात्रा में आएगा आवश्यकता से अधिक उस पर बल पड़ेगा तो खून की गति अवरुद्ध होगी वो दुखने लगेगा तो ध्यान भंग हो जाएगा इसी भांति दाए पैर पर जोर देते हैं तो इस पर भी यही होगा बाए पर देते हैं तो इस पर भी यही होगा और यदि हम पीछे की ओर झुकते हैं तो थोड़े से काल में थोड़ा सा झुकने के पश्चात हम नीचे की ओर पीछे की ओर गिर जाएंगे कमर हमारी ऐसे एकदम पीछे जाके लगे इसलिए ये जो सम अवस्था लानी है इसके लिए प्रयास करना पड़ता है लंबे काल तक एक आसन पर बैठते बैठते बैठते ऐसे अभ्यास करना पड़ता है नवीन साधकों को एक आसन प्रारंभ कर देना चाहिए और बीच बीच में दर्द हो दुख हो पीड़ा हो तो ध्यान अवस्था में बैठे बैठे इस आसन को लगाए अपने आसन को ऐसे बदल देते ऐसे उन्होंने खिसका के दूसरा आसन लगा लिया अपना ध्यान करते रहे जब दर्द दूर हो गया दुख दूर हो गया तो कुछ काल के पश्चात उसी आसन को फिर लगा लिया फिर बैठ गई फिर पंद्रह मिनट में फिर दुखने लगा उसके पश्चात फिर अपने पैर को उसने खिसका दिया हटा दिया दोनों को भी कर सकते हैं और ऐसे बैठ गई बैठे रहे ओम का जप करते रहे ध्यान करते रहे दर्द दूर हो गया उस आसन को पहले वाले को फेर लगा दिया ऐसे करते करते आधा घंटा पौन घंटा एक घंटा तक धीरे धीरे व्यक्ति कालांतर में पहुंच जाता है तो आसन के संबंध में ये जो सूत्र आपके सामने लिखे हैं आपके पास में पुस्तक होगी स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनुसमापत्ति ध्यान तत्व द्वंद्व अनभिघात है ये तीन सूत्र दर्शनकार ने आसन के लिए बनाए आपके पास पुस्तक जो रहती है वो जो योग दर्शनम उसके इस पाद का जो नीचे लिखा हुई संख्या इस पर आपको मिलेगा स्थिर सुखम आसनम शौक पूर्वक जिसमें बैठ बैठा जाए और ईश्वर का ध्यान किया जाए वह योग दर्शन की भाषा में आसन कहलाएगा स्थिर सुख में आसनम ये आपके पास लिखा हुआ है फिर दूसरी बात कही कि इस आसन को हम सिद्ध कैसे करें कैसे जमाएं सूत्र बनाया प्रयत्न शैथिल्य प्रयत्न कोशिश चेष्टा प्रयास क्रिया उस प्रयत्न को समाप्त कर दो शरीर को गर्दन को हाथ को पैर को मत हिलाओ रोक दो और अनंत परमात्मा में ध्यान करो प्रयत्न के रोकने से और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से व्यक्ति का आसन स्थिर होता है व्यक्ति हाथ पैर आदि को हिलाता रहता है जम के बैठ नहीं पाता कुछ न कुछ हिलाता है और हिलाते रहने से क्या होता है वो मन की वृत्तियों को नहीं पकड़ पाता कोई व्यक्ति तीर का निशाना गोली का निशाना मारने वाला वो किस प्रकार से सावधान होता है उसको अपना सांस भी रोकना पड़ता है इतना अपने आप को स्थिर बनाता है तब वो उस निशाने पर ठीक मारता है गोली को या तीर को या उसको नहीं तो नहीं मार सकता इसलिए ईशु कारवत न एक चित्त समाधि हानि ईशु कारवत ईशु कहते हैं बाण को या अस्त्र शस्त्र को उसको चलाने वाला जैसे व्यक्ति सावधान रहता है अथवा बनाने वाला दोनों में ही यीशु कार कार्य है यीशु कार क्या है बाण आदि को चलाने वाला और बाण आदि को बनाने वाला जैसे वो सावधानी से उसका निर्माण करता है वैज्ञानिक स्थिति में अथवा निशाने पर मारता है ऐसे जो व्यक्ति ईश्वर में ध्यान लगाता है रखता है तो उसकी समाधि हानि न समाधि भंग नहीं होती और ये समाधि की अवस्था पूरे दैनिक जीवन में प्राप्त की जा सकती है क्या समझ में आया नहीं आया समझ में क्यों जी आप ए, समझ पाए या नहीं नहीं समझ पाए फिर बताता हूं प्रातः सायकाल पहले व्यक्ति को सफलता मिलती है प्रातः काल एक घंटा बैठा सायकाल एक घंटा उस एक घंटा में पहले सफल होगा व्यक्ति एक घंटा तक वो अपने चित्त को पूरा अधिकार में करके ईश्वर मगन रह सकता है समाधि की हानि नहीं होगी आगे अभ्यास बढ़ते बढ़ते अभ्यास बढ़ते बढ़ते निपुणता आते आते वो समाधि सारे दिन भर के जीवन में रह सकती है जब तक आलस्य प्रमाद निद्रा आदि न आए तो आसन जब जमता है तो उसके विषय में कहा ततः द्वंद्व अनभिघात है द्वंद्व जोड़ा टकराव वाली दो चीजें सर्दी अर्थात ठंड और गर्मी और भूख प्यास हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करते अर्थात एक सीमा तक एक सीमा तक ठंड पड़ती है गर्मी लगती है भूख सताती है प्यास सताती है शरीर में दुख होता है बैठे बैठे पीड़ा होती है ये जो है सर्दी गर्मी भूख प्यास एक मात्रा तक हम लंबे काल तक बैठेंगे हमको प्यास नहीं सता सकेगी जल्दी जल्दी भूख नहीं सता सकेगी जल्दी से जल्दी ये सर्दी गर्मी अर्थात ये ठंड नहीं सता सकेगी आप जब जम के आसन में बैठेंगे तो कम से कम कपड़े में बैठ सकते हैं पहलेंगे तो आपको ठंड लगेगी आसन की परिभाषा आसन के उपाय आसन का लाभ ये आपके सामने उपस्थित है अब हमें आसन लगा करके कैसे ध्यान करते हैं मानसिक रूप में जप करना वाणी के रूप में जप करना संगीत के ढंग पद्धति से गायन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करना ये सब प्रयोग अपने अपने ढंग से होते हैं परंतु व्यक्ति को इनकी विधि आनी चाहिए अब हमें गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे प्रार्थना उपासना करना ईश्वर के साथ अपने संबंध की स्थापना करना ईश्वर से संबद्ध रहना और बाहर के वातावरण से हट जाना एक बार मैं बोलूंगा और तदनुसार आप बोलने का प्रयास करें तू ধার me. उसकी स्थिति क्या होती है आपने समझने का प्रयास किया होगा वह जिसका वर्णन यहां कर रहा है कविता में या गायत्री मंत्र में वह उस साधक का पिता है माता है आचार्य है न्यायाधीश है ईश्वर है उस ईश्वर के प्रति वो ये सारा गायन करता है और इस स्तुति प्रार्थना उपासना का परिणाम निश्चित रूपेण ईश्वर के साथ संबद्ध होना बनता है इसलिए बुद्धिपूर्वक ज्ञान पूर्वक ये कार्य होता है जो व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानता अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता इस शरीर और इस संसार को नहीं जानता वह कुछ भी योगाभ्यास नहीं कर सकता जो कुछ वो कर पाएगा वो उल्टा सीधा कुछ होता रहेगा इसलिए ये जो हम गायन करते हैं मंत्रों के माध्यम से गा करके भी करते हैं और हम वाणी से बोल के भी करते हैं फिर मानसिक स्तर पर भी, भी करते हैं सभी प्रक्रिया चलती है और ये रीति मानसिक भी पक जानी चाहिए अर्थात मानसिक रूप में करके भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए मंद गति से बोल के भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए ऊंचे स्वर से बोल के भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए और गायन करते हुए प्रयोग करते हुए भी सफलता प्राप्त करनी चाहिए ये पूरी पद्धति मानव जीवन में उतरती है उस अवस्था में हम ये कहेंगे ये व्यक्ति योगाभ्यास में सफल है पूर्ण सफल हो चुका है अब देखिए एक योगाभ्यासी प्रारंभ में छोटे से वाक्य को लेता है सबसे छोटे वाक्य को लेता है उसका प्रयोग करता है ईश्वर एक पदार्थ है एक वस्तु है एक तत्व है एक द्रव्य है उसका नाम ओम है ये संबंध है ईश्वर नामी है ओम उसका नाम है साधक को नाम और नामी का परिजान होना ही चाहिए अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी इसी योग दर्शन के अनुवाद में आगे पढ़ेंगे इसी पहले पाद में ईश्वर क्या है कलेश कर्म विपाक आशयी अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र स्वयं सर्वज्ञ बीजम पूर्व शांति गुरु कालेन अनुवच्छेदात तीन सूत्रों में ईश्वर का वर्णन किया फिर कहा पश्यवाचक है प्रणव जो ऐसा ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वव्यापक उसका वाचक नाम प्रणव ओम है पता चल गया नाम और नामी का अब क्या करना चाहिए तब जपस तदर्थ भावनम उस ओम का जप करो और उस ओम का अर्थ जो ईश्वर है उसका मन में विचार करो ये जप करने की विधि है उपासना करने का ढंग है ध्यान करने की रीति है योगाभ्यास इसी का नाम है अब हमें ओम नाम को लेते हैं और ओम नाम के शब्द तो लंबे हैं विस्तृत हैं एक को लेते हैं सबसे पहले जो ईश्वर है उसमें अनेक गुण बल ज्ञान सब कुछ है पर एक काम अर्थात एक गुण ईश्वर का महान है कि वो सारे विश्व की रक्षा करता है सारा विश्व उससे जीवित है यदि ईश्वर इसकी रक्षा नहीं करे तो एक क्षण भर भी विश्व ठहर नहीं सकेगा इतना रक्षक है ईश्वर एक क्षण भर यह विश्व टिक नहीं सकेगा सर्वरक्षक ईश्वर है जो हमारा पिता है हम उसके पुत्र हैं वो सर्वव्यापक हमारे पास में उपस्थित है हम ओम नाम से उसको संबोधित करते हैं और हम बोलते हैं ओम और फिर अर्थ का विचार कैसे करते हैं हे ईश्वर है आप सर्व रक्षक हैं फिर बोलते हैं ओम और फिर कहते हैं हे ईश्वर है आप सर्व रक्षक हैं जप में अनेक प्रक्रियाएं हैं पद्धति है रीति है पहले पाठ किया फिर रुक गए फिर अर्थ का विचार किया पुनः पाठ किया फिर रुक गए फिर अर्थ का विचार किया पुनः पाठ किया फिर रुक गए अर्थ का विचार किया एक रीति है पद्धति है विधि है तो साधक को पहले इसी को काम में लाना पड़ता है अब आप पहले ओम बोलेंगे मेरे साथ और फिर रुकेंगे और फिर अर्थ का विचार करेंगे ओम का पाठ एक काम है अर्थ विचार दूसरा काम है ईश्वर समर्पण रहना तीसरा काम है तीन काम ध्यान में किए जाते हैं अब आप सुनेंगे पहले बोलेंगे ईश्वर आप सर्व रक्षक हैं ये अर्थ का विचार कहलाता है अब मानसिक करना हो तो बाहर नहीं बोलेंगे बोल रहा हूं ऐसे साथ साथ बोलेंगे आगे पीछे न होंगे कहीं भूल हो तो रुक जाओ सुधार कर लो सांस पहले अच्छी तरह ले लेना चाहिए पूरा सांस हो सांस की कमी नहीं पड़नी चाहिए हम सभी बोलेंगे धीरे धीरे हे ईश्वर है आप सर्व रक्षक हैं ये अर्थ का विचार कहलाता है पुनः सांस को ठीक करिए